और अगर तुम मर जाओ या कत्ल हो जाओ तो अल्लाह ही के पास तो ले जाकर इकट्ठे किए जाओगे